वेलकम यो यो गाड़ी भी अच्छी है ये गाड़ी के साथ ही मिलती है लड़कियां तो अपने साथ ले घर से लेकर आया साथ में मिलती है भाई ओके एक्चुअली <laughs> uh, कैसा फील हो रहा है इतने फेमस हो गए सब कुछ इतना चल रहा है how do you feel now बातें यू है कि अपने पे मुझे गालिब सा गुमान है गालिब की तरह मैं भी कर्जे में हूँ मेरा भी किराए का मकान है ओहो इसकी एक प्रॉब्लम है जब मुझे पहली बार यो uh, यो मिला था तो सब ने मुझे बोला इसके जो लिरिक्स हैं थोड़े रिस्क हैं थोड़े से डेंजरस हैं अजीब सी बातें करता है लेकिन इसके दिल में अपनी माँ की बहुत जगह है सब इसने मुझसे यो यो यो क्रैकेट ये सब बोलने के बाद बोला मेरी मम्मी से एक मिनट बात कर लो प्लीज़ और दूसरी इसकी जो बुरी आदत है इससे सीधी बात करो ये सीधा जवाब नहीं दे सकता हर बात रैप में करता है तुम ऐसे क्यों करते हो यार भाई मेरी तो एक ही आदत गंदी जब भी मुंह खोलता हूं बन जाती है जुगलबंदी ये देखो यार मुझे बताओ जब आदमी रैपर बनना चाहता है आर्टिस्ट बनना चाहता है एक्टर तो पेरेंट्स को अजीब सा लगता है वो समझते हैं यार कभी डॉक्टर बन जाए इंजीनियर बन जाए मैंने सुना तुम्हारे डैडी जी चाहते थे तुम डॉक्टर बन जाओ आई स्पेशलिस्ट बन जाओ जी भाई मैं बन गया था मैं कंपाउंडर बन गया था कंपाउंडर बन गया था जी तो क्या हुआ बस पहली पेशेंट आई एक दिन तो क्या हुआ Blue eyes hypnotize तेरी कर दिया मैनू I swear छोटी ड्रेस में वाम लगदी सी मैनू I I should have understood अगर तुम आई स्पेशलिस्ट बनोगे तो यही करोगे मैंने सुना तुम्हारी मम्मी चाह रही थी कि तुम जो है लेडीज टेलर बन जाओ लड़कियों का पेटीकोट ब्लाउज बनाओ हैं? बन गया था भाई वो भी बन गया था वो भी बन गए थे तुम जी तो क्या हुआ ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ 47 ਵੇਸਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ओहो एंड तुम्हारी बुआ की भी एक बड़ी मनोकामना तमन्ना थी कि तुम जो है आ, मौसम विभाग टेलीविजन पे प्रेजेंट करो जी तो तुम चाह रहे थे तुमने वो किया किया था भाई तो जब टीवी ऑन हुआ तुमसे कहा गया कि मौसम के बारे में बताओ तो तुमने क्या किया आज ब्लू है पानी पानी पानी पानी पानी पानी और दिन भी जानी जानी जानी जानी जानी जानी आ जाओ ऑन द बीच यारा फोटो साडी खींच फूटी किस्मत होगी तेरी घर तूने बात न मानी अरे यार कुछ तो बिना रैप के बोल दे यार तू जैसे मेरा एक डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है ये डायलॉग को तू यार बोल के सुना मुझको मेरे होता है इसका रैप हो ही नहीं सकता इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है पर तेरे डैडी ने मुझे तुझसे बचाने की कोशिश की है you can do this okay life okay told me कि यहाँ पर जो भी हीरोज आज रात को आए उनसे ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए उनके नाम के बारे में बात किया जाए लेकिन वो कहाँ से हैं किधर से हैं उनकी जिंदगी because life okay channel deals with that उनके अंदर की जिंदगी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ हमारी ऑडियंस को मालूम होना चाहिए पता चलना चाहिए इवनिंग एंड होने से पहले सो so, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यो यो हनी सिंह से कि हमें बताएं कि कहां से आए हो और कहां जाना चाहते हो भाई DJ Crackhead. किसे कहते हैं है भाप है भाप किसे कहते हैं है भाप है भाप इसे कहते हैं है भाप है भाप किसे कहते हैं है भाप है भाप इसे कहते हैं शुरू किया मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर वैसे बॉलीवुड में आती रोज पिक्चरें सुपर हिट पिक्चरों का यो यो एक्सपेक्ट खुद के ही मानते कोयले की खान में हीरे को पहचानते मिडिल क्लास बॉय आज सुपरस्टार है चार टन में घूमे और चार बड़ी कार है billion dollars I give a damn कुड़िया छुड़िया आई गिव अ डैम बड़ी है सोच मेरी बड़े हैं प्लान जो कुछ भी हूँ आज कॉज ऑफ माई फैंस जो भी मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊंगा संबच रंग बली की देसी घी की बूंदी सकर पारे बटवाऊंगा मैं ले आऊंगा हम सब दुआ करेंगे जो दर्शक है तुम्हारे जो सब देख रहे हैं इस वक्त टीवी में और यहाँ पर कि तुम हमारे देश के लिए ग्रैमी लाओ ऑस्कर लाओ हमारा Ladies and gentlemen, let's all pray for the hero of 2013, Yo-Yo Honey Singh, that he keeps on doing great work and takes our country's name all over the world. A big round of applause for Yo-Yo Honey Singh, Thank you very everyone. much. Thank you. भाजी ये बच्चे ले जाऊंगा ये बच्चे हाँ तू लेके जा मैं यहाँ पे काम के लिए आया हूँ प्लेजर के लिए नहीं आया हूँ तू ले जा Alright, DJ Crackhead, one more time, everybody. किसे कहते हैं है भाप है भाप किसे कहते हैं है भाप है भाप किसे कहते हैं है भाप है भाप किसे कहते हैं है भाप है भाप किसे कहते हैं है भाप है भाप किसे कहते हैं है भाप है भाप किसे कहते हैं है भाप है भाप किसे कहते हैं